विषयों में हम पढ़ते पढ़ाते निपुण हो गए उनमें संदेह उत्पन्न हो जाता है होता है नहीं होता हाँ जी संदेव जी होता है या नहीं होता होता है अब एक प्रयोग संदेह की उपस्थिति होने पर एक प्रयोग सकता है जिस विषय में मुझे संदेह हुआ है वो संदेह जो हुआ है वो वास्तव में सच्चा है या झूठा है क्या पूछता अपने आप से ईश्वर पता नहीं है या नहीं है इसको ले लो ये संदेह हो गया उसको तो वो स्वयं से पूछता है क्या ईश्वर है या नहीं है ये संशय करना मेरा ठीक है या नहीं है ये पूछता अपने आप इसका निवारण कैसे होता है वो देखता है संशय होने के कारण क्या है जितने भी कारण हो सकते हैं उनको उठा के लाएगा वो परंतु उसने उन संशयों का उत्तर दिया है एक बार क्या समझ में आया जो ईश्वर के विषय में संशय होते रहे हैं उन संशयों का प्रमाणों से उत्तर देके खंडन किया उसने बार बार अब क्या समझ में आया हम्म? आज संशय हुआ ईश्वर है या नहीं है ऐसे संशय का अनेक बार उसने उत्तर दिया है परमाणु से खंडन किया है कि संशय होना झूठ है संशय होना हानिकारक है संशय नहीं करना चाहिए मुझे ये उत्तर दिया उसने आज फिर संशय हो गया ऐसा होता है नहीं होता होता है हाँ जी होता नहीं होता जब होता है तो वो संशय हानि करेगा ही जब तक आप उसको नहीं हटा देंगे तो उसका उपाय ढूंढते हैं कि इसका अनेक बार मैंने उत्तर दिया है अनेक बार खंडन किया इसका इस संशय का ईश्वर है या नहीं है ये आज क्यों उठाया तो फिर उसका परमाणु से खंडन करता है कि ये संशय जो मैंने उठाया है ये मेरा दोष है मुझे संशय नहीं उठाना चाहिए संशय नहीं करना चाहिए स्वयं से व्यक्ति पूछता है यदि संशय है तो बताओ क्यों संशय उपस्थित करो क्यों संशय हुआ कोई न कोई हेतु उपस्थित करो आपके मन में ईश्वर के विषय में संशय है या नहीं है रणवीर जी है, है उसमें संशय का कारण क्या है कारण को बताओ एक तो अपना जो अज्ञान स्वामी जी कुछ हम्म। ईश्वर के विषय में हम्म। ईश्वर के स्वरूप के विषय में हम्म। इस कारण से ईश्वर की क्रिया व्यवहार के ऊपर संशय है आपने हेतु बताया कि मेरे अंदर जो अज्ञान है वह संशय का कारण है ठीक है अच्छा जब आपके अंदर अज्ञान है जो तो संशय का कारण है तो वो आपके अज्ञान को क्या शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से नहीं हटाया जा सकता हटाया जा सकता तो।, तो फिर उसको हटाते क्यों नहीं प्रयास कहा आप बोलो बार बार हटाते हैं बार बार वही संस्कार फिर उभर जाते हैं जिनमें कई बार करते हैं ऐसा प्रयास दिन में फिर संशय उभरता होगा हाँ, बार बार उभरता है हम्म। ध्यान हटते ही उभर जाता है हम्म। ध्यान हटते ही उभर जाता है लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको दिन भर इस संशय के प्रतिकार के लिए सुसज्जित रहना पड़ेगा और हटाते रहना पड़ेगा आप शांति से नहीं बैठ सकते जब जब संशय होता है तब तक अच्छा ये बताओ न्याय दर्शन में आपने क्या पढ़ा संशय के विषय में उसमें जो संशय के कितने कारण बताए हाँ जी संदीप जी कितने बताए साधक जी कितने बताए और जो उत्तर देने वाले सिद्धांति विद्वान ने जो उत्तर दिया उसमें क्या कहा यत्र यत्र संशय क्या कहा अंत में जहां जहां संशय हो उसका समाधान इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने ये कहा आपने पांच हेतु बताए संशय के उसने उन हेतुओं का खंडन कर दिया पूर्व पक्षी ने ये जो पांच हेतु संशय के बताए ये तो सारे बेकार संशय हो ही नहीं सकता है या नहीं ऐसा संशय हो ही नहीं सकता सिद्धांति ने कहा आपने जो पांच हेतुओं का खंडन किया वो गलत है संशय होगा अब उनको दोहराने का तो समझ नहीं ना पांचों को उठा उठा के रखें क्यों जी या एक मोटा सा उदाहरण दे तो इन दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाएगा हुँ? किसी का दादा वृद्ध अवस्था में मर गया उसके पास में सोने के सिक्के थे मान के चलो 200-400 इसको गिन्नी बोलते थे पहले लोग और वो उस समय के लोग भूमि में गाड़ देते थे कई बार घरों में अपनी नीचे खोद करके गाड़ देते थे क्यों जी है ना अच्छा जब वो दादाजी मर जाते तो लोग ढूंढते थे ये दादाजी के पास में इतनी गिन्निया थी इतने सोने के सिक्के थे वो पता नहीं कहाँ गाड़े हैं क्या किया है तो वो घर को खोदना आरम्भ किया वो दादाजी जहां रहते थे जहाँ उनका वो था आकर्षण तो खोद के देखा नहीं मिला दूसरी जगह देखा नहीं मिला तो संशय हो जाएगा क्यों क्यों होगा संशय तो यहाँ अनुपलब्धि की अव्यवस्था है वो कहता है वो यहाँ है ही नहीं इसलिए नहीं मिल रहे या होते हुए नहीं मिल रहे <laughs> आपको भी समझ में आ गया होगा ये तो वो है और मिल नहीं रहे या है ही नहीं इसलिए नहीं मिल रहे संदेह तो होगा या नहीं होगा है जी एक व्यक्ति समाधि लगाना चाहता है ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है उसने जोर लगाया अभ्यास किया लंबा काल लगाया पढ़ा पढ़ाया और वो कहता है ईश्वर होता हुआ नहीं मिल रहा है, है ही नहीं इसलिए नहीं मिल रहा है क्यों वेदमुनि जी संदेह होगा या नहीं होगा ईश्वर है होता हुआ नहीं मिल रहा या है ही नहीं इसलिए नहीं मिल रहा तो वैदिक धर्मी को यह सिद्ध करना पड़ेगा ईश्वर है पर होता हुआ नहीं मिल रहा है यहां आना पड़ेगा उसको क्या समझ में आया ईश्वर है ये निश्चय कर दिया फिर वो खोज करेगा यदि है का निश्चय ना हो तो उसकी प्राप्ति के लिए भी पूरा बल नहीं लगाएगा वो इसलिए सिद्धांति ने एक बात कही जहां जहां संशय का खंडन करे पूर्व पक्षी वहां इसी प्रकार से उसका उत्तर देते रहना क्या समझे आप आ गया समझ में नहीं आया जी आपने सुना है अभाव आत्मक ज्ञान की स्थिति ब्रह्मात्मक ज्ञान की स्थिति और संशय आत्मक ज्ञान की स्थिति और निर्णय आत्मक ज्ञान की स्थिति कितनी हो गई हम्म? अभावात्मक भ्रमात्मक संशयात्मक और निर्णयात्मक ये चार स्थितियां जान की आई उनमें से निर्णयात्मक जो स्थिति वो संशयात्मक बदल जाती है संशयात्मक भ्रमात्मक में बदल जाती है परमात्मा की स्थिति अभावात्मक में बदल जाती है और दिन भर यह काम रहता या नहीं रहता अच्छा आपको भी थोड़ा सा याद रहेगा नहीं तो इनको तो थोड़े से समझ में आ गई होगी इनका हम चारों स्थितियों का दृष्टांत बनाते हैं एक व्यक्ति गद्दे पर अपनी चार पाई तकत पर सोया हुआ है उसके वस्त्र के पीछे बिस्तर के नीचे एक बिच्छू है और वो सो गया बिच्छू नीचे दबा पड़ा है उसको ज्ञान ही नहीं है मेरे वस्त्र के नीचे बिच्छू दबा पड़ा है ये कौन सी स्थिति है हमें ज्ञान नहीं है ये ज्ञान की अभावात्मक स्थिति है वो नीचे नीचे सरकने लगा वस्त्र के और नीचे नीचे कोई चीज सरकने लगे तो छोटी भी बड़ी दिखाई देती है क्या समझे आप नहीं पता आपको बताओ तो कुछ जब लेट रहे हो ना तो कोई चीज बस्तर के नीचे सड़केगी ना छोटी सी होगी तब तो भी बड़ी दिखाई देगी नहीं पता आपको अच्छा देखो ऐसे सो जाओ थोड़ी सी आवाज आएगी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी आवाज वो ऐसे कान को कर लो वो इतनी तेज सुनाई देगी और कान को ऊपर उठाओ तो कुछ नहीं साधक जी पता चला कुछ हाँ, चींटी भी सड़क रही है तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज है अगर शरीर के ऊपर आई है छोटी सी चीज है हाँ और उसकी जरा सी क्रिया ही हमें बहुत बड़ी दिखती है तो उसने देखा कोई वस्तु है वस्त्र के नीचे और एक मकड़ी होती है उसको छोटी को मकड़ी बोल देते हैं और लंबा चौड़ा जब हो जाए वो जाती दूसरी होती होगी मकड़ा उसको मकड़ा बोल देते हैं मोटा ताजा लंबा चौड़ा होता कई बार देखा होगा शौचालयों में मिलते हैं इधर उधर उसको मकड़ा बोलते हैं बड़ी बड़ी टांग होती है मोटा ताजा और लंबा चौड़ा होता है तब उसने देखा बस्तर के नीचे जब जा रहा था बिछू इधर ऊपर है साक्षात नहीं उसने हाथ लगा के देखा उसने निर्णय कर लिया ये तो मकड़ा है ये कौन सी स्थिति है हाँ जी कल्याण जी कौन सी ये भ्रमात्मक बिच्छू को मकड़ा समझ लिया ये कौन सी स्थिति है उल्टा ज्ञान होना भ्रमात्मक कहलाता है वो हमारा ज्ञान भ्रमात्मक हो गया तो उसने फिर देखा पूरा लंबा चौड़ा दिखाई दिया कहने क्या ये मकड़ा है या बिच्छू है पता नहीं ये कौन सी आ गई आत्मा के वही आत्मा और वस्त्र को हटाया और सोचने लगा इसको बाहर ही क्यों ना निकाल दो जो भी कुछ है जब निकालने लगा तो बिच्छू का देखा होगा बिच्छू डक मारने के लिए तैयार रहता है या नहीं देखा हमने नहीं देखा उसके पूछ के पीछे डंक होता है कांटा उसमें जहर होता है और ऐसे ऐसे कुत्ते की तरह कुत्ता जैसे पूछ को उठाए रखता है ना <laughs> ऐसे उठाए रखता है बस जब आप हाथ लगाए तत्काल मार देगा तो उसने ऐसे हटा तत्काल और बड़ा दर्द हुआ अब ये कौन सा ज्ञान है निर्णयात्मक हो गया पता चल गया बीच है पहुंच गए उसने चिकित्सा करी अपना दर्द हटाया ये हुआ वो हुआ वही बिच्छू रात्रि में या दूसरे दिन तीसरे दिन या एक सप्ताह के पीछे फिर बस्तर के नीचे आ फिर अब हवात्मक स्थिति आ गई जो निर्णयात्मक स्थिति थी बिच्छू को बिच्छू समझा था आज उसके नीचे दबा पड़ा है उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं ये कौन सा ज्ञान है फिर वो देखा ये तो मकड़ा है ये कौन सा है परमात्मा फिर पता नहीं ये मकड़ा है या बिच्छू फिर संशयात्मक फिर हाथ से निकाला तो काट लिया तो जैसे ये ज्ञान की चार स्थिति है प्रत्येक विषय में विद्युत की भांति चक्कर काटता है ज्ञान दिन भर और यदि इसको निर्णयात्मक स्थिति में पुरुषार्थ न, रखा जाए तो अभावात्मक में चला जाएगा फिर संशयात्मक में चला जाएगा और फिर भ्रमात्मक चला जाएगा और जिस जिस स्थिति में ज्ञान जाएगा उस उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन का निर्माण वैसा ही होगा अब क्या समझे आप दोहरा लो दिन भर व्यक्ति के ज्ञान की स्थितियाँ बदलती रहती है हाँ और उसके अनुरूप व्यक्ति ज्ञान जैसे स्थिति बदलती है तो जीवन का निर्माण पूरा और अच्छा निर्माण भी होता रहता अब क्या समझ में आई दूसरी बात नहीं आई हो तो दोहरा लो ज्ञान के बदलने से जीवन निर्माण जीवन निर्माण की पद्धति बदल जाती है जैसे भ्रमात्मक होगा तो उल्टा जीवन बनेगा संशयात्मक होगा तो भी उल्टा बनेगा अभावात्मक होगा उस विषय में तो भी उल्टा बनेगा और निर्णयात्मक होगा तो अच्छा जीवन बनेगा नहीं आया हो समझ में तो पूछो जिस जिसको को समझ में नहीं आया हो पूछो ईश्वर निर्णयात्मक सिद्ध हो गया आपका जीवन धर्म पर टिकेगा सत्य पर टिकेगा अधर्म से दूर होगा निर्णयात्मक ईश्वर है तो ये जीवन का निर्माण कहलाता है आंतरिक और यदि वो संदेहात्मक होगा तो वो धर्म पाप नहीं चल सकेंगे धर्म से इधर डग जाएंगे संदेह हो जाएगा यदि उल्टा हो जाएगा तो धर्म से उल्टा आचरण करना आरंभ कर देंगे आप उल्टा जान होते ही यदि भूल जाएंगे तो भी आप उल्टा आचरण करेंगे ये जीवन का निर्माण ये एक बात बताई मैंने और तीनों पर लागू होगी है जैसे ज्ञान के बदलने से जीवन का निर्माण अच्छा और बुरा दोनों होते हैं ज्ञान के बदलने से ही अधर्म और धर्म व्यक्ति के ऊपर लागू वो धर्माचरण होगा तो निर्माण अच्छा हो जाएगा अधर्माचरण होगा तो बुरा हो जाएगा और आगे बढ़िए यदि उपासना के विषय में ज्ञान सत्य होगा तो उपासना आपकी सत्य होगी उपासना सत्य होगी तो जीवन का अच्छा निर्माण होगा उपासना बुरी होगी तो जीवन का बुरा निर्माण होगा तीनों का ये प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता नहीं आया हो तो पूछो हाँ नाम उत्तर दो अब इसके साथ और जोड़ते हैं ये ज्ञान जो हमारा बदलता है और उस ज्ञान से फिर आचरण बदलता है ज्ञान से उपासना बदलती है ये तो आ गया होगा आपके समझ में नहीं आया नहीं आया तो फिर पूछ लो ज्ञान से ज्ञान बदलता है हमारा ज्ञान भ्रमात्मक हो गया तो हमारा आचरण जो होगा मन वाणी शरीर का वो भी अधर्म हो जाएगा और भ्रमात्मक ज्ञान की स्थिति में हमारी उपासना भी उल्टी हो जाएगी ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा और ये ततक्ष तत्क्षण पड़ता रहता है देखो जिस समय आपका ज्ञान निर्णयात्मक है ईश्वर की उपासना करेंगे दूसरी उपासना को छोड़ देंगे आप कभी देख लेना इसको और जब आपका भ्रमात्मक ज्ञान है ईश्वर की उपासना छोड़ देंगे और लौकिक चीजों की करेंगे जब ईश्वर का निर्णयात्मक ज्ञान है तो ईश्वर की उपासना करेंगे लौकिक उपासना छोड़ देंगे तत्काल प्रभाव पड़ेगा हमारी कल्याण डेयरी आ रही है समझ में नहीं आया हो तो फिर पूछ लो तीनों के तीनों बदलते हैं और वो तीनों के तीनों हमको प्रभावित करते हैं यदि हम देखते हैं कि ये मेरा ज्ञान भ्रमात्मक है संशयात्मक है ये निर्णयात्मक है ये अभावात्मक है इन सबको हम जानते हैं और जानने के पश्चात अभावात्मक जो ज्ञान है जिस विषय में हमको ज्ञान होना चाहिए उसको ज्ञान को उभारते हैं कि अभाव नहीं रहना चाहिए ईश्वर है ऐसा ज्ञान मुझे होना चाहिए फिर उसमें भ्रम होता है तो ये भ्रमात्मक ज्ञान इसको हटा देना चाहिए ये संशयात्मक ज्ञान इसको हटा देना चाहिए फिर निर्णयात्मक ज्ञान इसको बनाए रखना चाहिए ये स्थिति बने और निर्णयात्मक को बनाए रखने के लिए इसको कितना तत्पर रहना पड़ता है इसकी कल्पना करके देखो आप आपने कभी योग दर्शन के भाषण में पढ़ा होगा कि योगाभ्यासी जिस स्थिति में रहता है और ये प्रमाद जैसे दोष एक अलंकारिक भाषा ऐसे एक अवसर मौका देखते रहते हैं थोड़ा सा भी असावधान हो गया क्यों साधक जी याद है कुछ छद्र हो गया कहीं कहा नहीं आया थोड़ा सा असावधान हो गया आप असावधानी होगी किसी कारण से तत्काल अज्ञान उत्पन्न होगा और आपको उस ऊंची स्थिति से जहां नहीं जाना था वहां गिरा देगा इतने तेजी से तीव्रता से प्रभाव पड़ता व्यक्ति आपने सुना होगा और हो सकता देखा भी हो एक दुर्घटना हो गई चाहे वो करोड़ों रुपए की हानि हुई हो या किसी मित्र की पुत्र की मृत्यु हो गई हो जैसे वो सुनता है वैसे ही पागल हो जाता नहीं समझे आप क्यों साधक जी सुना है ना ये तो प्रसिद्ध बात है कोई बहुत सूक्ष्म बात नहीं है नहीं सुना अजय सुनने के पता सेकंडों में मर जाता है और पागल हो जाता है या संतुलन बिगड़ जाता है बड़बड़ाने लगता है ये बस क्षणों में होता है या नहीं होता तो इससे पता चला ज्ञान का ही तो परिवर्तन है और तो उसको चोट मारी नहीं कोई आघात पहुंचानी कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं <laughs> केवल ज्ञान का ही तो प्रभाव है ये या नहीं है नहीं आ रहा समझ में आप, आप देख सकते हैं तो ज्ञान का प्रभाव कैसे प्रभाव है इससे जीवन ही चला गया इससे दिमाग ही खराब हो गया मानसिक रोग हो गए व्यक्ति होश हुआ भूल गया केवल ज्ञानी तो परिवर्तित हुआ है या और कुछ कोई चोट तो लगी नहीं तो आपको ये पता चल गया कि ज्ञान से जीवन हमारा प्रभावित कैसे होता है इसलिए ज्ञान की रक्षा कैसे करें हम जिसे वो अभावात्मक न हो जाए भ्रमात्मक न हो जाए संदेहात्मक न हो जाए निर्णयात्मक बना रहे तो ठीक है हमारा जीवन अच्छा बनता रहेगा उचित होते चले जाएंगे उत्कृष्ट हो जाएंगे यदि हमने ये निर्णय आत्मक ज्ञान की स्थिति नहीं बनाई तो संशयात्मक ज्ञान में हमारा जीवन नीचे जाएगा परमात्मक ज्ञान में नीचे जाएगा और अभावात्मक ज्ञान होगा तो भी नीचे जाएगा उसको आप बचा नहीं सकते परिमाग्ने दुश्चरिता सुचरित माँ सुचरिते भर्ज उदायुषा सुवायुषो उदस्थाम् अमृता मनु सम्मान्य विद्वद्गण धर्म प्रेमी सज्जनों आपने बहुत कुछ सुना समझने का प्रयास किया समण रखिए आप जिस मार्ग को अपना के चले हैं उस मार्ग पर चल के सफल होना चाहें उस मार्ग पर सफल हो करके समाज को भी उस मार्ग पर चलाना चाहें तो आपको कितनी सज्जा कितनी तैयारी कितना त्याग कितना तप आपको करना पड़ेगा नहीं तो आप सफल नहीं हो पाए आज वैदिक आदर्श जीवन बनाना और समाज को उसके ऊपर ले चलने का प्रयास करना सीधी तलवार की धार है ये उस समय भी तलवार की धार मानी जाती थी जो नचिकेता का काल माना जाता है आज की तो बात ही कुछ नहीं है तो जिस समय ये चर्चा चल रही थी उपनिषद में नचिकेता की और सर्वे वेदा यत मनंती तपांसी सर्वाणी च यद वदंती छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी ओम ये उन्होंने ईश्वर का स्वरूप बताया सारे परीक्षण हो गए परंतु इतने से आचार्य को पता चला इसको मैंने बतला तो दिया है पर ये इसमें भूल न कर दे तो फिर क्या कहा रणबीर जी नहीं याद है प्रकरण अब आपको जब ऐसे प्रकरण समण नहीं है आप ध्यान नहीं देंगे तो वो प्रकरण आपको याद भी नहीं रहेंगे और समय पर आपका वो प्रकरण सहयोग भी नहीं देंगे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत क्षूर से धारा निशिता निशिता दूरत्य दुर्गम पथस्तत कब यो वरण नचिकेता कहा ना कि तू यह सम्मत मान लेना इतनी सरल बात है उद्दित हो जाओ और जाग जाओ अविद्या की दृष्टि से अज्ञान को उखाड़ के फेंक दो मारो और विद्या को आगे बढ़ाओ जागने का मतलब ये प्राप्त वरान निबोधता जो आत्मा परमात्मा को जानते हैं तत्व बेता है योगी हैं जिन्होंने इस मार्ग को अच्छी तरह से समझा जाना चलते उनके पास जाओ और विशेष ज्ञान प्राप्त करो आ गया समझ में क्योंकि ये छुरे की धार है बड़ी तीक्ष्ण है अत्यंत कठिन है आपने सुना था संसार के अंदर सबसे कठिन कार्य ईश्वर प्राप्ति करना कराना है सुना था नहीं याद है कुछ इससे कठिन कार्य संसार में कोई भी नहीं है न था न होगा जैसा ईश्वर प्राप्ति करने और औरों को करवाने से व्यक्ति को सफलता मिलती है दुखों की निवृत्ति आनंद की प्राप्ति होती है वैसे किसी भी संसार के कर्म की फल की प्राप्ति नहीं है इसे क्या समझ में आया फिर से सुन लो ईश्वर को जानने जनाने से जो व्यक्ति के समस्त दुखों की निवृत्ति होती है और नित्य आनंद की प्राप्ति होती है ऐसा फल संसार में किसी और विद्या का और कर्म का नहीं है हाँ ध्रुवदेव जी यहाँ समझ में आया क्या आया ईश्वर प्राप्ति को करने के लिए जो कर्म किया जाता है वो सर्वोत्कृष्ट कर्म है कर्म हाँ। है हाँ जी इतना ही था हाँ जी संसार में ईश्वर प्राप्ति करना सर्वाधिक कठिन कर्म है एक बात ईश्वर प्राप्ति करने से जो फल मिलता है वो संसार के अन्य किसी भी कर्म करने से उतना फल नहीं मिलता अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करने से जो सब दुखों की निवृत्ति होती है वैसा फल संसार के अन्य किसी भी कर्म से कर्म करने से नहीं मिलता तो इन्होंने तो बताया ना उत्साह से कुछ वर्णन अच्छा कर दिया आपने तो आधी बात कह के छोड़ दी ये भी तो ध्यान देना पड़ता है पढ़ने वाले को ये ध्यान देना है कि मैं सुनाऊंगा अब मुझे पूछा जाएगा अब मैं क्या कहूंगा उसको सोचते रहना पड़ता है नहीं तो क्या बोलेगा वो कुछ नहीं दोनों बातें व्यक्ति को जाननी है अर्थात जितने भी कठिन से कठिन तम कल्पना कर लीजिए संसार के कार्य हैं चाहे आगे में कूदना क्यों न हो कुछ भी कल्पना करो जितना कठिन कार्य ईश्वर प्राप्ति करना कराना है इतना कठिन कार्य कोई न था न है न होगा ये देख लीजिए आप संदेह हो तो पूछो हाँ देख लीजिए ठीक है और इसका फल ईश्वर प्राप्ति करने कराने से जो व्यक्ति को फल मिलता है उसके तुल्य संसार में किसी भी ज्ञान किसी भी कर्म किसी भी उपासना का अन्य की उपासना का फल नहीं मिलता आप वर्तमान में देखो मोटे मोटे दृष्टान आपके माता पिता ने आपको 10 वर्ष या 15 वर्ष कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ाया और वो प्रति मास दो हजार तीन हजार हो सकता है खर्च करता रहा छह हजार भी कर सकता है और सारी व्यवस्था आपकी आवास और जब आप आते हैं दर्शन योग महाविद्यालय उस दिन से एक पैसा नहीं देगा आप बताइए कठिन है या नहीं है आप क्या समझ समझ में आया ये देता है क्या कोई एक आध को छोड़ दो भला जब माता पिता जिसने पालन पोषण किया और वो पांच दस लाख खर्च कर चुका था आज आगे भी करेगा कुछ इतने डॉक्टर बनाएगा इंजीनियर बनाएगा प्रोफेसर बनाएगा वैज्ञानिक बनाएगा तो हो सकता है पचास लाख खर्च करे और जिस दिन वो गुरुकुल में देश जाति के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए आता है उस दिन वो एक पैसा नहीं देगा और देने की बात छोड़ो और उनको रोकेगा भी इसको एक पैसा मत देना इतना ही नहीं हमारा बच्चा बिगाड़ दिया है और वो हमको गाली देगा और ये कहेगा बिगाड़ने वाले दर्शन महाविद्यालय में बैठे ही ये लोग युवकों का इन्होंने विनाश किया है और आज भी कर रहे हैं और इनका विरोध करो वो सारे समाज में सूचना निकालेगा अब बताओ क्या करो इतना होने पर भी जो व्यक्ति प्रसन्न चित होकर के और बिना भय बिना शंका बिना संकोच के आनंद से लग रहा है कि हमने यही करना है ये सारे संसार के लोग भटके हुए हैं इनके ऊपर के माता पिता भटके हुए हैं इनके प्रोफेसर आचार्य भटके हुए हैं ये वैज्ञानिक भटके हुए हैं ये मत मतांतर वाले भटके हुए हैं और हमारा परिवार भी भटका हुआ है और हम ठीक है ये दिमाग बनाना पड़ेगा अभिमान से ठीक नहीं एक होता ना अभिमान से कह देना नहीं शत प्रतिशत परीक्षा पूर्वक हमने देख लिया है कि हम ठीक हैं ईश्वर के आदेशानुसार हैं ऋषियों ने जो तत्व वेताओं ने जो माना वही मान के चल रहे हम ये भ्रांति का मतलब नहीं है ये शक्ति जो दी है ये जानने की जो ये ठीक है हम ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है ये ज्ञान मेरा नहीं है ये दिमाग भी रहना चाहिए नहीं तो वो मिथ्याभिमान आपको धराशाई कर देगा कि मैंने जाना है मैं समझ गया हूं